राघव विक्रांत ने तुरंत ही राघव को फोन करके उससे कहा राघव थोड़ा चेक करके बताओ कि ये गोरेगांव ईस्ट में जो मुकेश मिल है इसका मालिक कौन है कहीं रोनित बनर्जी के बाप का तो नहीं है उसका ही कोई बिजनेस था और जहाँ तक मुझे याद है उसका कोई कपड़े का मिल था ओके मैं चेक करता हूँ राघव ने कहा वैसे राघव इस वक्त नैना के साथ गोरेगांव रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था लेकिन उसे विक्रांत के टैलेंट पर पूरा यकीन था और वैसे भी वो इस केस से जुड़े किसी भी काम को तनिक भी देरी नहीं करना चाहता था इसके साथ ही विक्रांत ने टीम ए के सभी इन्वेस्टिगेटर्स को भी रेडी रहने के लिए कह दिया था ताकि जैसे ही वो उन्हें ऑर्डर दे तो वो लोग तुरंत ही एक्शन के लिए रेडी हो जाए चूंकि यहाँ रोनित बनर्जी के बुक स्टोर में खास मिला नहीं था इसलिए विक्रांत को लगा कि शायद रोनित कुछ गेम भी खेल रहा है वो कहीं और भी छुपा हो सकता है और हो सकता है कि सबकी नजरों से बचाने के लिए उसने सुमैना अरोड़ा को भी किसी और जगह पर छुपा रखा और यहाँ आसपास के एरिया को देखते हुए विक्रांत को लगा कि यहाँ पर वो वैसे भी बहुत शांति है ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं है लेकिन फिर भी बुक स्टोर में किसी को छुपा कर रखना उसे भूख से तड़पा कर मारना खतरे से खाली नहीं है इसलिए विक्रांत को शक हुआ कि रोनित ने यहीं कहीं बुक स्टोर के आसपास ही अपना दूसरा अड्डा भी बना रखा होगा विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर वहाँ पर बंद पड़े मुकेश मिल पर पड़ी तब उसे याद आया कि रोनित के पिता का कुछ बिजनेस था वैसे तो उसका रियल स्टेट का कारोबार था लेकिन रियल स्टेट में आने से पहले वो कपड़े की मिल आदि भी चलाया करते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुकेश मिल के मालिक रोनित बनर्जी के पिता ही रहे हों और अब चूंकि इस मिल को भूतों का डेरा माना जाता है और कोई यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता तो इसी बात का फायदा रोनित उठा रहा हो वो बड़े आराम से मिल के भीतर किसी कमरे में विक्टिम्स को छुपा कर रख सकता है और वहाँ भीतर से कोई कितना भी चीख चिल्ला ले उसकी आवाज बाहर कोई नहीं सुन सकता अपने इसी शक को कंफर्म करने के लिए विक्रांत ने राघव को लगाया हुआ था अभी विक्रांत अपनी पूरी टीम को तैयार कर ही रहा था तभी उसके पास राघव का दोबारा से फोन आया विक्रांत भाई तुम ठीक कह रहे थे ये जहाँ पर रोनित बनर्जी का बुक स्टोर है वहीं पास में ही मुकेश मिल भी है ये रोनित के बाप मुकेश बनर्जी का ही है उसने अपने नाम पे ये मिल खोला था ये मिल उसका सबसे पहला बिजनेस था उसने इस कोलाबा के इस एरिया में काफी प्रॉपर्टी भी खरीदी हुई थी यहाँ पर उसने कई सारे विला बनाकर भी बेचे हुए थे लेकिन रियल स्टेट वाला कारोबार भी उसका ज्यादा नहीं चल पाया था वहाँ पे कुछ विला तो उसने पूरा कंप्लीट करवा दिया था लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसका कंस्ट्रक्शन अभी तक पूरा नहीं हो पाया बीच में ही छोड़ दिया गया है अच्छा तो तुम ऐसा करो मुझे इसकी सारी प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जितने भी यहाँ कोलाबा में इसके विला या मिल वगैरह है सब मुझे बताओ सबकी लोकेशन दो जल्दी विक्रांत ने कहा विक्रांत ने यहाँ पहुंची हुई टीम ए को गाड़ी में बैठने के लिए कहा यहाँ सामंत रोड के गली नंबर पांच में एट नंबर विला और गली नंबर चार में ग्यारह नंबर वाला विला ये दोनों रोनित के बाप के नाम की ही प्रॉपर्टी है बाकी मुकेश मिल तो है ही उसके नाम राघव ने कहा इसके बाद वो आगे की बात बोल पड़ा विक्रांत मैंने इसकी माँ की भी हिस्ट्री निकाल ली है और वहां से भी बहुत बड़ी बात पता चली है सोचो क्या हो सकता है हम्म, क्या पता चला बताओ विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा इस वक्त उसके हाथ में फोन पकड़ रखा था और वो फटाफट गाड़ी में बैठने जा रहा था ये रोनित बनर्जी की माँ बैंक में मैनेजर थी राघव ने बताया अब भले ही वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम नहीं करती थी लेकिन उन्होंने कई सारे बैंकों में लॉकर रूम की सुविधा को शुरू कराने का काम किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईसीआई बैंक के कई सारे लॉकर रूम उनके ही देखरेख में बनकर तैयार हुए थे अब मुझे समझ आ रहा है कि कातिल ने लोगों को मारकर उन्हें जलाने या दफनाने के बजाय लॉकर रूम में रखने का रिस्क क्यों लिया था हम्म, हाँ विक्रांत ये खबर सुनकर सन्न रह गया रोनित की पूरी कहानी अब उसे समझ आ रही थी रोनित बनर्जी ने विक्टिम्स को भूख से तड़पाकर मारने के बाद उसे बैंक के लॉकर रूम में इसलिए रख रहा था क्योंकि वो अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहता था मतलब अपनी माँ जी की मौत का बदला लेने के लिए ही वो ये सब कर रहा था लेकिन लेकिन उस वक्त एक्सीडेंट में ऐसा क्या हुआ था ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने एक्सीडेंट के बाद रोनित की माँ के साथ कुछ बहुत बुरा किया था तभी उसके दिमाग में इतना गहरा सदमा लगा है और वो लोगों को इस तरह से मारकर माँ की मौत का बदला ले रहा है लेकिन माँ की आत्मा को शांति देने के लिए वो सबको मारकर बैंक के लॉकर रूम में रख रहा है लेकिन बाप का क्या बाप के लिए भी तो कुछ कर रहा होगा और ये रोनित का घर कहीं इसी एरिया में तो कहीं नहीं है विक्रांत कुछ ही मिनट में राघव द्वारा दिए गए लोकेशन पर पहुंच गया उस वक्त विक्रांत के साथ टीम बी के देव राजीव और देव समेत कुछ और भी इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद थे ये सब लोग विक्रांत के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे जैसे विक्रांत को यहाँ पर कुछ होने का शक हुआ उसने तुरंत ही टीम बी के कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ अपने पास बुला लिया था चूंकि टीम ए के जतिन श्रेयस और संगीता पहले ही घायल होकर हॉस्पिटल में पड़ी थी इसलिए विक्रांत को टीम बी के इन्वेस्टिगेटर्स का सहारा लेना पड़ा देव और राजीव को जैसे ही रोनित बनर्जी को ढूंढने का ऑर्डर मिला ये लोग तुरंत ही भागते हुए विक्रांत की लोकेशन पर पहुंच चुके थे ये लोग जब यहाँ पहुंचे विक्रांत से सारी बात जानना चाहते थे लेकिन इस वक्त विक्रांत बहुत जल्दी में था और ये इमरजेंसी का टाइम था इस वक्त किसी के पास बात करने की फुर्सत नहीं थी तो सब लोग विक्रांत के ऑर्डर को फॉलो करते हुए रोनित का ठिकाना ढूंढने में लग गए ये सब लोग कोलाबा के सामंत रोड पर एक एक घर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे थे कोलाबा के जिस एरिया में ये लोग उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर बहुत अजीब सी शांति का माहौल था इंसान तो दूर यहाँ परिंदे भी नजर नहीं आ रहे थे सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि यहाँ पर सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई सारे घर अधूरे बने पड़े थे अधिकतर तो बंगले ही थे लेकिन सब अधूरे बने थे और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बीते कई सालों से इन घरों में किसी ने भी कदम नहीं रखा है घरों की आधी बनी दीवारों पर हरे रंग की काई लगनी शुरू हो चुकी थी और कई घर तो ऐसे थे जिसकी दीवारों के बीच से काफी घने पेड़ उग चुके थे भयानक बात यह थी कि इन पेड़ों पर भी कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा था समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी लेने के लिए इन्वेस्ट किसने किया रहा होगा क्योंकि बहुत कम ही घर यहाँ पर ऐसे थे जो कंप्लीट बने हुए थे और उनमें से भी एक या दो ही ऐसे थे जिसमें कुछ लोग रहते थे बाकी तो पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भूतों का शहर बसा रखा है गली नंबर पांच में आठ नंबर वाला घर दस नंबर वाला घर और ग्यारह नंबर वाला घर ये सब पास पास ही थे सो विक्रांत और बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग डिवाइड होकर इन घरों में तलाशी लेने लग गए वैसे ये तीनों घर भी अधूरे बने थे और इन सभी घरों का मेन गेट लोहे से बना हुआ था जो कि जंग लगने की वजह से बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच चुका था गेट खुला हुआ ही था और घर का सिर्फ ढांचा ही खड़ा था तो यहाँ पर लोगों को ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही थी बहुत जल्द ही ये लोग वहां से बाहर आ गए इन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला विक्रांत थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा इसके बाद वो देव की तरफ देखते हुए बोला इस एरिया में लगभग दस बंगले बने हुए हैं अब पता भी नहीं है कि रोनित ने सुमोना को कहां पर छुपाया होगा अब उसे कैसे ढूंढे सुमोना को गायब हुए काफी टाइम हो चुका था अब अगर उसे जल्द से जल्द नहीं खोजा गया तो उसकी मौत भी हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे उसके मिलने में देरी हो रही थी उसकी जान को खतरा बढ़ता ही जा रहा था विक्रांत सर दे बोल पड़ा हम लोग डॉग स्क्वाड को बुला लेते हैं ना उससे कुछ हेल्प मिल सकती है अरे हाँ डॉग स्क्वाड के नाम पर विक्रांत को याद आया कि उसका शेरलॉक होम्स भी उसके साथ आया हुआ है मेरे पास तो खुद का डॉग स्क्वाड है रुको मैं उसे लेकर आता हूँ विक्रांत गाड़ी की तरफ बढ़ चला उधर वहाँ खड़े टीम बी के इन्वेस्टिगेटर्स की धड़कनें तेज हो चुकी थी अब वो विक्रांत के इस कुत्ते पर जरा सा भी भरोसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को फालतू में ही लेडीज टॉयलेट में घुसा दिया था खैर विक्रांत को अपने शेलोक होम्स पर पूरा यकीन था गाड़ी में से उसे बाहर निकाल लाया और फिर उसके कान में जाकर बोलने लगा बेटे इस बार तो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट काम ही करना है बस अब यहाँ आसपास के एरिया में जितना भी ताज़ा ताज़ा टॉयलेट हुआ है सब ढूंढ निकालो